अचानक विक्रांत को कुछ समझ आया जब वो पहले रंजीत मेहरा के साथ लड़ रहा था तब रंजीत सिर्फ बचकर भागने के लिए विक्रांत से लड़ रहा था वो किसी तरह से वहां से भागने की कोशिश कर रहा था तभी विक्रांत उसे लड़ पाया था लेकिन अब जाकर उसे रॉ वालों की असली ताकत का एहसास हुआ उस रॉ एजेंट के एक ही पंच ने विक्रांत के होश उड़ा दिए थे विक्रांत किसी भी हालत में इन लोगों का सामना नहीं कर सकता था वो एक बंदे के सामने नहीं टिक सकता था और यहाँ पर तो उसने पूरी की पूरी टीम को ही ललकार के रखा हुआ था विक्रांत को दर्द से कराता हुआ देख वहां खड़े सभी एजेंट्स जोर जोर से हंसने लगे <laughs> क्या हुआ हीरो मजा आया रमन ने हंसते हुए कहा अभी कहाँ आया होगा रुक जा बेटा अभी तो और मजा आएगा देख हड्डियां टूटेंगी तेरी आज यहाँ मौजूद सब लोग विक्रांत को देखकर जोर जोर से हंस पड़े अभी ये लोग यहाँ पर हंसी रहे थे कि कुछ अजीब सा यहाँ पर हुआ अरे ये ये कहा गया जिस एजेंट ने विक्रांत के ऊपर अटैक किया था वो हैरानी से भरे लफ्जों में कहने लगा अरे कहा गया ये गायब कैसे अभी वो इधर उधर पलटकर विक्रांत को खोजने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से उसके मुंह पर एक जोरदार पंच जड़ दिया वो जमीन पर पट करके गिर गया था ये कैसे हुआ तभी एक दूसरे एजेंट के करीब किसी के आने का एहसास हुआ दरअसल विक्रांत ने अपने जादुई कोट को एक्टिवेट कर लिया था जिसकी मदद से वो अदृश्य हो चुका था जैसे ही वो अदृश्य हुआ उसने सबसे पहले रॉ एजेंट की कमर में लगी बंदूक को निकालने की कोशिश शुरू कर दी हम्म ओह विक्रांत अपनी पूरी ताकत से गन निकालने की कोशिश कर रहा था लेकिन ना जाने क्यों वो उसकी कमर से बंदूक बाहर नहीं निकाल पा रहा था लेकिन जब विक्रांत ने बंदूक पर हाथ लगाया वो रॉ एजेंट सावधान हो गया उसने तुरंत ही विक्रांत का हाथ पकड़ लिया वो विक्रांत को देख तो नहीं पा रहा था लेकिन उसके हाथ को पकड़कर उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था विक्रांत ने उस गन पर अपना ग्रिप बना रखा था लेकिन ना जाने क्यों वो इसे खींचकर कवर से बाहर नहीं निकाल पा रहा था ऊपर से उस एजेंट ने भी अपनी पूरी ताकत से विक्रांत का हाथ पकड़ रखा था इसी छीना झपटी में अचानक से विक्रांत के हाथ से गन का ट्रिगर दब गया तड़ाक तड़ाक गोलियों के चलने की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा आ, इस एजेंट के पैर से खून की फुहार छूट पड़ी दोनों की दोनों गोलियां उसकी जांग में जा लगी थीं। वो दर्द के मारे कराते हुए जमीन पर बैठ गया लेकिन अभी तक विक्रांत के हाथ में गन नहीं आई थी दरअसल ये गन लॉक हो रखा था उसके कमर में लगे गन के कवर में ये फंसा हुआ था विक्रांत किसी भी हालत में ये गन बाहर नहीं निकाल सका लेकिन इसी बीच प्रीति जोर से चिल्ला पड़ी तेरी तो साले उसने फटाफट अपनी गन बाहर निकाली और फिर विक्रांत के ऊपर शूट करने लग गई उसे विक्रांत दिखाई तो नहीं दे रहा था लेकिन जिस तरह से विक्रांत ने दूसरे एजेंट को पकड़ रखा था उसी से अंदाजा लगाते हुए वो विक्रांत पर गोली चलाने लग गई लेकिन विक्रांत पर उसकी गोलियों का कोई असर नहीं हुआ प्रीति की बंदूक से निकली सारी गोलियां विक्रांत के शरीर में लग तो रही थी लेकिन फिर भी उसे कोई असर नहीं हो रहा था विक्रांत बड़े आराम से जहां चाह रहा था वहां जा सकता था अब तक कंप्यूटर पर काम कर रहा एजेंट भी उठकर प्रीति का करीब आकर खड़ा हो गया और उसने भी अपनी गन बाहर निकालकर विक्रांत के ऊपर अंदाजे से शूट करना शुरू कर दिया उसकी भी सारी गोलियां विक्रांत के शरीर पर लग रही थी लेकिन फिर भी विक्रांत को कोई असर नहीं हो रहा था अब तक विक्रांत लपक कर एक दूसरे एजेंट के ऊपर टूट पड़ा था पहले तो उसने एजेंट के सीने पर लात मारते हुए उसे जमीन पर पटक दिया और फिर उसके कॉलर को पकड़कर धड़ाधड़ उसके मुंह पर पंच करने लग गया कुछ ही पल में उसने उसके मुंह पर पंच मारते हुए उसके मुंह से खून निकाल दिया यहाँ का दृश्य काफी अजीब सा था क्योंकि विक्रांत तो किसी को नजर नहीं आ रहा था लेकिन उसके पंच का असर दूसरे एजेंट पर साफ दिख रहा था रमन तो डर के मारे थरथर कांपने लग गया था ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू का शो चल रहा है जहाँ पर जादूगर ने खुद को गायब कर लिया है और फिर बाकी के लोगों को पीट कर घायल किए जा रहा है अब तक विक्रांत ने उस एजेंट को पीट पीट कर घायल कर दिया था इसके बाद वो उसके भी कमर में लगी हुई गन को निकालने लग गया लेकिन ना जाने क्यों ये गन किसी भी हालत में बाहर नहीं निकल रही थी अभी तक विक्रांत को इसका कारण समझ नहीं आया था कुछ सेकंड तक तो वो गन निकालने की कोशिश करता लेकिन जब गन बाहर नहीं निकली तो फिर वो दूसरे एजेंट की तरफ झपट पड़ा टार्जन वो तुम्हारी तरफ आ रहा है प्रीति अचानक से चिल्ला पड़ी उसने विक्रांत के पैरों की आवाज से भाप लिया था कि वो किस तरफ भाग रहा है प्रीति की ट्रेनिंग वाकई में काफी हाई लेवल की थी टार्जन उनके ही ग्रुप के एजेंट का नाम था प्रीति की आवाज सुनकर वो तुरंत चौकन्ना हो गया उसने फटाफट अपनी गन बाहर निकाल ली और इधर उधर घूमते हुए विक्रांत को निशाने पर लेने की कोशिश करने लग गया लेकिन विक्रांत को इस वक्त ना तो पकड़े जाने का डर था ना ही बंदूक की गोलियों का इस वक्त उसके पास अदृश्य शक्ति का दिया हुआ जादुई कोट भी था और बुलेट प्रूफ जैकेट भी टार्जन ने अपनी गन निकालकर अंदाजे से ही विक्रांत को शूट करना शुरू कर दिया लेकिन बंदूक से गोली तो निकलती और वो विक्रांत के शरीर पर लग भी रही थी लेकिन शरीर से टकराने के बाद गोली तुरंत जमीन पर गिरी जा रही थी ये देखकर तो सभी के होश उड़ गए समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह के आदमी से पाला पड़ गया मैं मैं मैं पहले ही तुम लोगों से कह रहा था कि इसको गोली मारकर बात खत्म करो रमन ने घबराई हुई आवाज में कहा इसने कोई जादू का कोर्स किया हुआ है मैंने इसके बारे में बहुत लोगों से सुना है हे भगवान रमन के माथे पर अब पसीना आना शुरू हो गया था आ, विक्रांत ने टार्जन का भी काम तमाम कर दिया वो जमीन पर धम करके गिर पड़ा तभी एक दूसरे रॉ एजेंट ने चिल्लाते हुए कहा ये लाइट को ये लाइट को क्या हो गया अबे यार ये ये ये फोन भी स्विच ऑफ हो गया कंप्यूटर भी बंद हाल में बिल्कुल अंधेरा छा गया सभी के फोन से लेकर कंप्यूटर लाइट सब कुछ बंद हो गया था विक्रांत ने अपना पावर जैमर टूल भी चालू कर दिया था ताकि इन लोगों को और आराम से पीट सके हे भगवान हे भगवान ये क्या हो रहा है रमन ने अपना सिर पकड़ कर रोना शुरू कर दिया जादुई coat bullet proof jacket power jammer और नाइट विजन के साथ विक्रांत समझ लो सुपरमैन की तरह इन लोगों से लड़ रहा था लेकिन विक्रांत को पता था कि ये सब टूल ज्यादा देर तक उसका साथ नहीं देने वाले इसलिए जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का काम करना है विक्रांत तेजी से भागता हुआ फिर से टार्जन के करीब पहुंचा और उसके हाथ से गन छीने लगा लेकिन वो यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल लग रहा था उसे बिना देखे अंदाजे से विक्रांत के ऊपर हाथ से वार कर दिया पंच इतना जोरदार था कि विक्रांत थोड़ी दूर पर जाकर फ्लैट हो गया अट्ठाईस सत्ताईस छब्बीस उसके माइंड में जादुई कोर्ट के असर को खत्म होने का काउंट काउंट डाउन सेकेंड चल रहा था इस कोर्ट के असर को खत्म होने से पहले ही उसे कैसे भी करके गन हासिल करना होगा वरना जैसे ही विक्रांत नॉर्मल मूड में आएगा ये लोग उस पर टूट पड़ेंगे विक्रांत ने अपना टारगेट बदल दिया वो भागता हुआ फिर से उसी एजेंट के पास पहुंचा जिसके पैर में गोली लगी थी वो अभी भी जमीन पर ही पड़ा हुआ था विक्रांत ने जल्दी से उसके कमर में लगे गन के कवर से गन निकालने लगा उसने विक्रांत का हाथ पकड़ लिया और फिर चिल्लाने लगा ये ये यहाँ पर है इधर इधर मेरे पास विक्रांत बिना कुछ बोले उसके कमरे में से गन निकालने के लिए मशक्कत करने लगा लेकिन अभी भी गन बाहर नहीं निकल रही थी उधर उस एजेंट ने अपना हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया विक्रांत ने गुस्से में आकर उसके पैर में गोली लगने वाली जगह पर अपनी कोहनी धसा दी आ, वो गला फाड़कर चीखने लगा सात छ पांच जब विक्रांत ने देखा कि जादुई कोर्ट के जाने का समय हो रहा है तब उसने जल्दी से बंदूक के हत्थे को कसकर पकड़ा और फिर उस एजेंट के कमर पर अपनी एक टांग टिकाते हुए इसे पूरी ताकत से खींच लिया तीन दो एक जैसे ही विक्रांत के हाथ में बंदूक आई वैसे ही उसके जादुई कोट का असर खत्म हो गया और फिर वो सबको नजर आने लगा विक्रांत ने इधर उधर नजर डाली यहाँ काफी अंधेरा था लेकिन फिर भी वो अपने नाइट विजन की मदद से देख पा रहा था सारे एजेंट इधर उधर छुपे हुए थे कहीं से कोई नजर नहीं आ रहा था वो रहा वो खड़ा एक एजेंडा विक्रांत को देखते चिल्लाया इसके बाद तो उसके ऊपर गोलियों की बारिश शुरू होगी ताड़ ताड़ ताड़ चारों तरफ से गोलियां चल रही थी लेकिन विक्रांत पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था वो तो बस इधर उधर नजर घुमाते हुए अपने टारगेट्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था ये सब लोग कहीं दरवाजे के पीछे तो कहीं किसी टेबल के पीछे छुपे हुए थे अभी बुलेट प्रूफ जैकेट के टाइम लिमिट को खत्म होने में तकरीबन दस मिनट बचे थे इससे पहले विक्रांत को इन सबको ठिकाने लगाना है अब उसने भी बंदूक तान ली लेकिन तभी एक एजेंट ने हॉल की खिड़कियों को खोलकर पर्दा हटा दिया जिससे यहाँ पर काफी रोशनी आनी शुरू होगी रोशनी सीधे विक्रांत के चेहरे पर पड़नी शुरू होगी विक्रांत की आंखों में चुभन शुरू होगी उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा दरअसल इस वक्त उसने नाइट विजन ऑन कर रखा था इस वजह से रोशनी में देखना उसके लिए मुश्किल हो रहा था उधर सामने से लगातार उसके ऊपर गोलियां बरस रही थी इन गोलियों का उसे कुछ असर तो नहीं हो रहा था लेकिन इनके झटके की वजह से उसका शरीर हिला जा रहा था फिर भी वो डट कर अपनी जगह पर खड़ा रहा उसने जल्दी से पहले अपना नाइट विजन ऑफ किया अब धीरे धीरे उसे कुछ दिखना शुरू हुआ विक्रांत को सब धुंधला धुंधला ही नजर आ रहा था लेकिन फिर भी उसने गन तान कर गोली चलानी शुरू कर दिया उसे ये तो नहीं दिख रहा था कि गोली कहाँ जा रही है लेकिन कुछ लोगों के दर्द के चीखने की चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में साफ सुनाई दे रही थी